सत्ता सत्ता स्वलक्षण पूर्ण पूर्ण क्यों है कहते सत्ता स्वलक्षण सत्ता स्वलक्षण होने से पूर्ण क्यों हो जाएगा तो प्रथम संभवती इति अपेक्षाएं कहते श्रुतिषु प्रतिपादितम् श्रुतिषु प्रतिपादितम्

श्रुतिषु प्रतिपादित जैसे है ऐसे हो जाएगा अच्छा मृदादि अनेक का दृष्टान्त श्रुतिषु प्रतिपादित यज्ञान मृदादि अनेक दृष्टान्त श्रुतिषु प्रतिपादित तद्ब्रह्म ये अवधारय जिसका ज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाता है यश ज्ञान क्या समाज होगा जैसे ज्ञान सर्व विज्ञान है यहाँ ज्ञान तो सर्व विज्ञान सर्व विज्ञान में समस्या होगा हाँ, वो भी षष्टी को षष्टी होगा जिसका ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा जिसका ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा ये भी सबका ज्ञान यज्ञान सर्व विज्ञान मृदादी अनेक दृष्टान्त सूचीसु प्रतिपादित सांधे के उपनिषद में पिता उद्गारक पुत्र श्वेत केतु को बताते हैं ऐसा वहाँ कथा दिया गया कि गुरुकुल में गया था पढ़ करके आ गया तो जैसे कहते ना शहर में पढ़ करके फिर जो गांव में आता है लड़का कैसा करेगा तो खड़ा चलेगा ऐसे कोई गुरुजन लोग देखने से थोड़ा झुकेगा नहीं क्यों हम शहर से पढ़ करके आए करेगा तो पिता उसका एक बात पूछ ले क्या आप उसको पढ़ लिए हैं जिसको जानने से जगत का सब कुछ जाना जाएगा बस एक ही प्रश्न में वो गिर गया ऐसा कैसे हो सकता है एक ऐसा ज्ञान में सभी का ज्ञान हो जाएगा ऐसा कुछ होता है क्या तो पिता बोले तो आपको पता नहीं है तो गुरु को आप पूछे नहीं है बात तो बोला कि अगर अच्छा, तो गुरु को पता होगा हमको पता था तो नहीं तो इसलिए उनको पता नहीं होगी आप ही बता देंगे नहीं तो फिर पिता कहेंगे फिर बारह साल जाओ गुरुकुल में तो बोला आप ही बता दीजिए फिर वो बताते हैं तो बताते हैं कि कारण का ज्ञान से सभी कार्य का ज्ञान हो जाएगा जैसे मिट्टी का ज्ञान होने से मिट्टी में बनाया जाए जितने पदार्थ सभी का ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार वहाँ तीन दृष्टांत देते हैं एक मृत एक लोहो और एक सुवर्ण तो सुवर्ण में बनाया गया जितने सारे आभूषण सब सुवर्ण का ज्ञान होने से पता चल जाएगा आभूषण बहुत सारे दिख दिखता है और कोई एक पिंड दिखा करके बोल दिया कि ये सुवर्ण पिंड है तो ये आभूषण <clears throat> आभूषण क्या पदार्थ हो जाएंगे सुवर्ण हो जाएंगे सुवर्ण को पहचान लिया तो सारे कार्य को पहचान जाएगा तो इसके द्वारा क्या करना चाहते हैं ये जो जगत में विचित्रता दिखती है नाना रूप ये सब दिखता है कहते अगर हम उसका कारण को ही जान लें तो ये सब ज्ञात हो जाएगा मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी में बनाया गया जितने सारे बर्तन सबको जान लेना पता चल जाएगा इसको थाली कहते हैं इसको ग्लास कहते हैं इसको लोटा कहेंगे कुंभ कहेंगे ये भी सब पता चल जाएगा इधर जान लेगा कि ये सब मिट्टी है उतना ही ब्रह्म ज्ञान ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने से गंगा जी में कितना जल प्रभाव हो रहा है कह देगा कह देगा कि गंगा जी में ब्रह्म ही है इतना ही कह देगा सब कुछ कारण रूप ही हो जाएंगे ये श्रुति में सब दृष्टान्त देकर के मृदादि अनेक दृष्टान्त ही श्रुति सु प्रतिपादित इसलिए हमेशा हम लोग का उद्यम रहना है कि जीवन में भी व्यवहार में भी कारण को जाने कारण को जाने हम सामने के व्यवहार में आ जाते हैं कहते हैं ये व्यक्ति तो ऐसा अच्छा व्यवहार हैं ये तो हम कार्यो में ही रहेंगे ये व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार क्यों करता है जब हमारा दृष्टि इस प्रकार बदलेगा ना देखेंगे जीवन में कैसा परिवर्तन होगा हम तो इस व्यक्ति में और कोई हमको राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसका कारण क्या है आप खोजते खोजते बोलते अच्छा अभी इस व्यक्ति में गुण है अच्छा इसे इंसान को तो दिखती नहीं है तो वो व्यक्ति में कहते तो उसमें रजोगुण है तो अभी हम व्यक्ति से और नहीं होकर के गुण में चले जाएंगे और सर्वत्र हमको यही दिखेगा अच्छा ये सतोगुण वाला है रजोगुण वाला है तम गुण वाला ऐसे हमको सर्वत्र गुण दिखेगा अगर गुण दिखने से हम गुण के साथ व्यवहार करेंगे व्यक्ति से क्या गुण आ रहा है तो ये सब अर्थात वेदांत को हम जीवन में कैसे धीरे धीरे कार्य में मतलब नहीं रखेंगे कारण में मतलब रखेंगे ये क्यों ऐसा कर रहा है ये चीज तो क्यों ऐसा हो रहा है क्या पूछना बड़ा बात नहीं क्यों पूछना ये बड़ा बात है एक बार एक एकदम प्रधान अध्यापक होते कॉलेज का एक बार आए थे ऐसे बात हो रहा था बोले की अमेरिका से एक गोष्ठी आए थे तो ऐसा उनके साथ बात हुआ बोले कि हमारे देश में बच्चे लोग सुबह उठ के माता पिता को पूछेंगे कि आज उनको क्या करना है तो ये बोले कि हमारे देश में ऐसा नहीं है हमारे देश में बालक पूछेगा कि आप हमको जो कर रहे करने के लिए इसको हम क्यों करना है बोलो एकदम चमक गए <laughs> बोले कि अच्छा हम लोग तो ऐसा कभी सोचे ही नहीं थे क्या करना है कह दिया करते हो क्यों करना है ये जो पूछेगा उसका बुद्धि में विस्तार होगा ये कर देना है कर यहाँ कर दिया पूरा करना है कर दिया ये तो सारा जीवन वही करता रहेगा बुद्धि की जो विकास होता है हर जगह में पूछेगा क्यों करना है हाँ ऐसा नहीं कि उपटान पूछे जैसे शास्त्र विधान किया है मतलब इसके साथ समर्पण भाव के साथ हर जगह हम प्रश्न करें प्रश्न करने से उत्तर मिलेगा रूप से वेदांत तो नहीं बैठा है हम तो कहते चलते हैं आप तो सुनते रहो ऐसा नहीं हमका पूछना है तो बुद्धि की धीरे धीरे ये विस्तार हो जाए जब हम कारण को पूछते चलेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा वो अभ्यास बढ़ेगा हर जगह हम कारण को पूछते चलेंगे हमारा व्यवहार में भी ये सब उतरेगा कारण को महत्व देंगे तो धीरे धीरे हर चीज का कारण जो गुण में पहुंचेंगे आगे फिर ये गुण में परिवर्तन क्यों हो रहा है तो ये गुण कहाँ है उनका क्या कारण है इस प्रकार की धीरे धीरे कारण में चलेगा श्रुति यही बात यहाँ सिखाती है कि कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है वेदादि अनेक दृष्टान्ते श्रुतिषु प्रतिपादित तद ब्रह्म इति अवधार्य यज्ञान सर्व विज्ञानम जिसका ज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाता है वही ब्रह्म है सब कैसे ज्ञान तो हो जाएंगे कहते सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है सर्वम कविदम ब्रह्म ब्रह्म वासुदेव सर्वम इस प्रकार के ज्ञान टीका में ये ना श्रुतम ये न उत्तम श्रुतम भवती पिता उदाल को पुत्र को पूछते हैं उत तम आदेश अपराक्ष ये न श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अभिज्ञात विज्ञान विज्ञातम पूछते हैं आप ऐसा कुछ उपदेश प्राप्त कर लिए हैं क्या वो कहता है कि प्रथम खोलो है तद भवती ऐसा उपदेश हो सकता है क्या फिर आगे बताते हैं ये तो छांदोग्य का हो गया ये ना श्रुतम छांदोग्य का छ एक न छः छांदोग्य का षष्ठ अध्याय का ये प्रथम खलु प्रथम मंत्र अरे आत्मन आत्मनि खलोरे दृष्टे सुते मते विज्ञाते एकदम सर्वम विदितम भवती आत्मनि हो जाएगी विशेष अर्थात आत्म विषय को ज्ञान हो जाने से खलु खलु का अर्थ वाक्यालंकार कहते हैं और अरे अरे अर्थात याज्ञ बोलते थे मैत्री को बताते हैं इसलिए संबोधन करते हैं दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्व विदितम होती दृष्टे श्रुते मते आत्मा का दर्शन श्रवण मनन होकर के जो विज्ञान हो जाता है इदम सर्वम पूरा जगत विदितम होती ये जगत पूरा विदित हो जाता है आत्मा का ज्ञान हो गया तो पूरा जगत का ज्ञान हो जाता है ये बृहदारण्य होता है आगे मुंडक कश्मीन भगवो विज्ञाते एकदम सर्वम सर्वम एकदम विज्ञातम भवती ये भी जा करके सौनक अथर्वाम के रस को पूछते हैं ये भी मुंडक का आरम्भ का एक दो प्रथम का द्वितीय मुंडक एक एक दो कहा जाएगा सर्वम इदम विज्ञातम भवती सभी जिज्ञासु जाकर पूछते हैं किसका ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा एक एक करके कितना जानेंगे ये तो अंतहीन है तो किसका ज्ञान होने से इति एवं विधानी श्रुति शब्द गृहते एवं विधानी वाक्यान इस प्रकार एवं विधानी कहते एवं विधा भेषम ते एवं विधानी विधा अर्थात प्रकार इस प्रकार की जो सब वाक्य होते हैं उन्हीं को यह श्रुति शब्द से कहा गया क्योंकि श्लोक में कहा गया श्रुति सुप्रतिपादित जिसका ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा श्रुति शुद्ध कौन सा श्रुति ये सब देखिए मृदादि अनेक दृष्टान्त इति आदि शब्द है मृदादि अनेक दृष्टान्त ऐसे श्लोक का उत्तरार्थ में द्वितीय बाद में कहा गया कहते हैं आदि कहने से लोहमणि मकचिंतन धुंधुभि संख्यादय दृष्टान्त लोहमणि लोहमणि ये सुवर्ण उसको लोहमणि कहते हैं लोह में ये छह सात पदार्थ लोहा कहा जाते हैं तो लोहा कांस्य बाकी जो शीशा और ये जो चंबा इत्यादि कहते हैं सबको लोहा दे देते हैं सब धातु है उसमें मणि को नहीं कहते सुबह इसलिए उसको लोह मणि कहते हैं नख ना नख निकृंतना आजकल का भाषा में भेड़ तो पहले आप लोग जो पहले जमाने में देखे थे जब ब्लेड सब आया नहीं था तो छूरों से इसको करते हैं और इसको काटने के लिए लोहा का होता था मतलब थोड़ा मोटा सुई होगा जैसे हम लोग बोरी सिलाई करते हैं देखे ना पतला सुई नहीं मोटा सुई होता है तो उससे और थोड़ा सा मोटा होगा उसका जो अग्रभाग होगा जैसे पलटा बोलते हैं ना जो भोजन बनाने के लिए हम्म। लंबा होता है उसका हम्म। नीचे भाग ऐसा हो जाता है उसका खुला हो जाता है उसको आप सूक्ष्म कर दीजिए जैसा होगा पलटा इतना लंबा होता है उसका आप इतना कर दीजिए उसका मोटाई भी कम हो जाएगा उसका सामने वाला भी छोटा हो जाएगा उसी से नाखून में से उसका मक्खन विक्रम करना चाह जाते हैं और लोहा से आजकल तो ब्रेड के बाद तो अभी तो ये आ गया ना दवा देने तो वो नखा नकल है अर्थात तो लोहा से बनाया जाता है और दुंदुभी दुंदुभी अर्थात भी सामान्य दुंदुभी नगड़ा नगड़ा बजरा है ऐसा जब हमको पता चलता है फिर आगे हम जान पाएंगे अच्छा ये नगड़ा जब बजरा है तो अभी इस प्रकार भी अभी तो कबड्डी खेल होगा इसके लिए नगड़ा है और अभी तो नहीं मंदिर में आरती होगा ये दोनों समान होगा स्वर नहीं होगा ऐसे अलग अलग होता है तो पहले नगाड़ा बोल करके जान लेते हैं तो फिर ये नगाड़ा का ये स्वर है वो स्वर है ऐसे जानते हैं शंख ये शंख में भी इसी प्रकार के है युद्धकालीन शंख और आरतीकालीन शंख ये भी अलग अलग होता है दृष्टान्त देव दृष्टान्त तद विकाराणाम तद प्रकृति व्यतिरेकेण अभाव प्रतिपादिका स्वीकृत तद विकाराणाम तद प्रकृति व्यतिरिक अभाव मान लीजिए पहले मृद तद पद से ले लेंगे मृद बाकी क्या हो जाएगा तद विकाराणाम तद प्रकृति व्यतिरिक तद पद से लेंगे मृद तो क्या कहेंगे तत्पद से किसको लेंगे मृत तद विकाराणाम प्राप्त हो जाएगा मृत विकाराणाम आगे मृत प्रकृति प्रकृति व्यतिरेक हाँ, हाँ। प्रकृति अर्थात जिससे पदार्थ बनता है मृद का जो विकार होगा वो विकार का प्रकृति क्या होगा मृद प्रकृति जो कारण विकार जो कार्य और मृद का जो विकार विकार अर्थात कार्य मृद का जो कार्य होगा तो ये कार्य का कारण कौन होगा मृद मृद होगा तो तद विकाराणाम तद मृद विकाराणाम तद प्रकृति व्यतिरिक अर्थात ये जो विकार का जो प्रकृति है मृद है मृद ही प्रकृति हो गया तद प्रकृति फिर मृद प्रकृति मृद जो प्रकृति हुआ उससे ना मिट्टी का जो कार्य होगा वो मिट्टी को हटा लेंगे तो रहेगा नहीं रहेगा तद व्यतिरेकण व्यतिरेकण अर्थात अभाव है मृद का अभाव हो जाने से वो घटा नहीं रहेगा अभाव प्रतिपादक कारण व्यतिरेकण कार्य नहीं रहेगा ये कहने का वहां तात्पर्य है सर्वदा कारण कारण दृष्टि है तो जीवन हमारा वेदांत धीरे धीरे बनेगा हमेशा कारण को रहेंगे प्रतिपादक स्वीक्रिय तेसु ही कारणेशु ज्ञातेशु जो मृत हो गया गोहमणि नकल कृतन डुंडुभी शंख ये सब तेसु ही तेसु करके ये सब को लेना है ऊपर में लेना है कारण हेसु ये सब कारण है तो कारण ज्ञात तद अतिरिक्त कार्य अभाव कारण से भिन्न कोई कार्य नहीं है नहीं होने से ज्ञातव्य विशेष नास्ती इति कारण से व्यतिरिक्त कार्य नहीं है तो इसलिए कारण का ज्ञान हो गया तो शांत रहना है कार्य में बहुत ही जो नाम रूप <coughs> है वो है वो है ये जिससे उतना हो सकता है तो जितना जितना कारण को जान लिया शांत हुआ बाकी और बहुत नहीं है <coughs> इससे बना है कुछ विपरीत तो देखो नाश्ता ही ले जाते हैं तो चश्मा दृष्टि शक्ति कठिन होने से पता नहीं चलता सीधा अरे हम पूछ लेते हैं किससे बनाएगा तो चावल से बना हाँ ठीक है <laughs> इतना पूछ लेना है <laughs> तो किससे बना है कारण ज्ञान हो गया तो खाली सा ज्ञान हो गया तद अतिरिक्त कार्य अभाव कारण का ज्ञान हो गया तो कार्य फिर इसे किस प्रकार बना है क्या चीज है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कारण का ज्ञान हो गया बात ठीक है कारण अतिरिक्त कार्य अभाव ज्ञात के विशेष हो नास्ती अधिक और ज्ञात के विशेष अर्थात कार्य का जो कहते हैं ना उसका विशेष होता है डिटेल्स होता है तो जितना कम ज्ञान उतना अच्छा है तो आटा से बना है हाँ बस ठीक है मैदा से बना है तो वही नहीं चाहिए कैसे बनाया क्या मैंने उसमें ये डालने है ना मैदा तो ऐसा समझ रही क्योंकि उसका कारण है मैदा देता ना कारण का ज्ञान से व्यवहार होना चाहिए धीरे धीरे उससे बहुत ज्यादा विशेष धीरे धीरे बुद्धि से हटा लेते बुद्धि को जितना खाद्य मिलेगा बुद्धि उतना चलेगी इसलिए बेटा तो कहेगा कि खाद्य को घटाओ घटाओ विशेष मत देना है बुद्धि को कारण दे दीजिए कारण दे देने से कम हो जाएगा कार्य देने तो बहुत ज्यादा होगा इसलिए कारण को देख करके शांत हो जाना तद अतिरिक्त कार्य अभाव ज्ञातव्य विशेष हो नास्ती विवक्षित कोई ज्ञातव्य नहीं रहा तेर एते ही सन्मात्र ज्ञाते आकाश आदि अभाव है न सन्मात्र ज्ञान को ज्ञातमेव सर्वमिति प्रतिपादित ही एते ही एते ही दृष्टान्त ही जितने सारे दृष्टान्त दिया गया वो सब दृष्टांत के द्वारा सम्मात्र ज्ञाते कारण कारण खोजते खोजते चलेंगे फिर आप सम्मात्र में चैतन्य में पहुंच जाएंगे ज्ञाते चैतन्य अर्थात अंतिम में मैं हर चीज का कारण जितना धीरे धीरे मैं की तरफ चलेगा हम भी जो व्यवहार काल में संसार में बहुत ज्यादा राग द्वेष में फंस जाते हैं जब हम दोष अन्यत्र देखते हैं जब दोष मेरे में ही दिखेगा तब तो जानेंगे कि हमारे गति अच्छे होगी एक बार एक महात्मा बोले थे उन्होंने ऐसा हमको कहा वो तो ठीक है किंतु तो हम भी सोचते हैं कि हमको लगा क्यों हमारे अंदर में कहीं भूख है जिसमें वो रस्सी फसा दिया तो हम वो रस्सी को काटे ना हमारा भूख को उखाड़े तो बिल्कुल आपका विचार बहुत अच्छा है ये सबसे विचार हमको मतलब पकड़ा अभी अभी तो हमारा जैसे सब कुछ बदल जा रहा है हम अभी अपने में भूख देने का कोशिश कर रहे हैं हमारे कहा हुक है लोग रस्सी फंसा देते हैं <laughs> तो हुक को हमसे ही उखाड़ना पड़ेगा अगर हम रस्सी काटते रहेंगे एक रस्सी काट दिए हुक अगर है तो दोबारा कोई रस्सी डालेगा नहीं डालेगा <laughs> तो इस प्रकार की होगा ये चित्र जो शुद्ध होते हैं सेवा करते करते जो चित्र शुद्ध होता है तो व्यक्ति में इस प्रकार के विचार आता है तो हमको अपने को बदल देना पड़ेगा ये जगत को हम कहाँ बदल पाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति बदल जाता है हाँ फिर कुछ कह दिया तो प्रारंभ और हाँ, कितना हर को हर शब्द को हर शब्द कितना उत्तर देंगे करेंगे तो सभी जाएंगे तो सन्मात्र तो ज्ञाते कारण का ज्ञात होने से आकाश आदि अभाव है ना जब सन्मात्र का ज्ञात हो गया आकाश कार्य है आकाश की उत्पत्ति होती है आकाश की उत्पत्ति नहीं होगा तब पढ़ने से बुद्धि खराब हो जाएगी <laughs> आकाशो नित्यम नित्यो विभु है पढ़ने से हो जाएगा तो वेदांत में जब तक चलेंगे तस्माद आत्मन आकाशो आकाशो जायते करेंगे आकाश की उत्पत्ति होती है तो एक लोग नहीं मानते वेदांत लोग कहते हैं कि सृष्टि का आरम्भ काल में आकाश की पहले उत्पत्ति हो जाएगी और अंतिम में फिर नाश हो जाएगा अगले काल में आकाश भी नहीं रहेगा नैयायिकों का प्रलय ऐसा नहीं है उनका तो परमाणु नित्य है उनका आकाश नित्य है मन काल आत्मा कितने सारे नित्य पदार्थ है वेदांत में सब कुछ ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब कुछ सभी किसी का उत्पत्ति हो जाएगी अच्छा। सन्मात्र ज्ञाते ये सब दृष्टांत के द्वारा सन्मात्र उनके सन्मात्र मूल कारण हो गया कारण का ही कारण आकाश आदि अभाव सन्मात्र ज्ञान तो में वो सर्वमुखी प्रतिपादित तो कारण का कारण मूल कारण हो गया सन्मात्र इसलिए सन्मात्र अर्थात सत इसको सच्चिद आनंद कह देते ब्रह्म अभी वो ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होगा होगा तो ब्रह्म सर्व का कारण हो गया तो उसका ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा ज्ञान तो ज्ञातम एवं सर्वम इति प्रतिपादित सब कुछ ज्ञान हो जाए तत्व सन्मापन ब्रह्म तो वो जो सत्य है वो ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से सब कुछ हो जाएगा और हमेशा बुद्धि में रखेंगे ब्रह्म अलग पदार्थ नहीं है जिसको जानने के लिए हम कोशिश करते हैं निरखंड भगवान हमसे अलग है जाते हैं दर्शन करने के लिए इस प्रकार की नहीं ब्रह्म हम ही है जब भी ब्रह्म का विचार आएगा आत्मा का विचार आएगा पहले हमारा बुद्धि में आ जाएगा तो हम ही है लगता नहीं वो ऐसे घटेगा वो देखेंगे क्योंकि पहले बुद्धि होना चाहिए ब्रह्म तो हम ही है ललता नहीं गया हुआ तो सटा हुआ है उसको सटेने का हटाएंगे हमको प्राप्त तो करना है ये बुद्धि को तो हटा देना है क्योंकि हमारा बुद्धि संस्कारित होती रहती है कि ये प्राप्त करना है ये प्राप्त करना है क्यों अभी तक हम लोग जितने पदार्थ को जानते हैं उसको प्राप्त करने का योग्य है तो उसी संस्कार से हम ये करते हैं कि ब्रह्म भी प्राप्त करने का योग्य है ऐसा नहीं ऐसा होने से बेकार समझ जाता है हम हमेशा अर्थात तो वही कहते ना वो घड़ी के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं जब भी ब्रह्म आत्मा का विचार आएगा मैं ही वो हूँ इस प्रकार के तो पहले करना है अनुभव नहीं आता है ठीक है बेटा जाएगा क्योंकि परोक्ष ज्ञान ये होना चाहिए कि मैं ही हूँ ब्रह्म ये कुछ दृढ़ होना चाहिए सब मात्र ब्रह्म बत्तीस मास लोग उच्चारण करेंगे सूचिषु प्रतिपादितम् तो के श्रुति के आधार पर कहा गया सुख समादेशम अप्राच्य ये न सुखम भवती इस प्रकार से एक का ज्ञान से सर्व विद्यान हो जाएगा अभी कई तो क्रिया के आधार पर कह छांदों के श्रुतिया सम्मात्रम ब्रह्म इति उत्तम संप्रति तैतरीय श्रुतिया सत्यम ज्ञानम अनंत आनंदात्मक ब्रह्म इतिहास छांदों के श्रुति से सन्मात्र ब्रह्म उत्तम ये भी जो गया उत्तम आदेशम अप्राच्य संयोजकवाद में कह करके संप्रति अभी तैतरीय श्रुतिया तैतरीय श्रुति के द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसे ही तैतरीय का मंत्र है आनंदात्मक ब्रह्म इतिहास अभी उसको एक ज्ञान से सभी ज्ञान हो जाएगा कहते हैं

यत्कायत्वं प्रतिज्ञा तदहमेत्यवधारय यद आनंत्यम श्रुति जैसे है पूरा ऐसे ही पूरा जैसे हम ऐसे ही बोले यद आनंत्यम प्रतिज्ञाय यद आनंत्यम यसे आनंत्यम जिसका अनंत्य क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो किसका अनंत्य कहा गया ब्रह्म तो जिसका अनंत्य को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा अथवा को समान दो क्रिया अगर एक ही कर्ता के द्वारा हो रहा है पूर्व कालिक क्रिया में क्या प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा आपको सूत्र स्मरण है समान कर्तिक पूर्व काले समान कर्तिक हो पूर्व काले ये उच्चारण एकदम संस्कृत है समान कर्तिको हो पूर्व काल है इस प्रकार दो क्रिया एक ही कर्ता के द्वारा हो रहे हैं तो एक ही क्रिया पूर्व काल में है एक क्रिया उत्तर काल में है जो काल तो क्रिया है उसके साथ तो लगा रहे हैं जैसे कहते हैं भुक्त प्रगति इसका उत्तर हो गया करके भोजन करके जा रहे तो करके इसी प्रकार के कहते हैं यद आनंद प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का अर्थ हो जाएगा प्रतिज्ञा करके यहाँ त्वा हुआ है त्वा को लियप हो गया है त्वा को लियप करने वाला सूत्र समाज से नए पूर्वो पूर्वे समाज से नए पूर्वे को समास में पूर्व में नय नहीं होना चाहिए तब तो आपको लेप हो जाएगा तो जिसका अनंत प्रतिज्ञा करके कौन प्रतिज्ञा की श्रुति कैसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म प्रतिज्ञा करके तत् सिद्ध है ये जो अनंत है उसको सिद्धि करने के लिए जगो क्या कहा श्रुति यद कार्य तुम प्रपंच ये प्रपंच ब्रह्म का ही कार्य है तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत इस प्रकार की कार्य तद ब्रह्म इसे अवधार्य जो अनंत है हम है और हम जानते हैं ये दोनों चीज सभी को पता है ना हमको पता चलता है नहीं चलता हम जाके दूसरों को पूछते हैं और हम है नहीं है ये दूसरों को पूछते हैं तो हम है और हम जानते हैं ये सत और चित और हम सत चित आनंद है ये आनंद का किंतु अभिव्यक्ति नहीं रही हम है और हम जानते हैं ये तो, तो सचित हमसे तो हो रहा है ये आनंद हमसे क्यों नहीं हो रहा है इसी का कारण है कि हम आपको पांच फुट में छह फुट में सीमित कर दें जब हमारा ये सीमितता हट जाएगी अर्थात हम ये रामानंद है श्यामानंद है देवदत्त है वो है गोरा है काला है मोटा है पतला है ये तो शरीर का हो गया आगे नहीं नहीं मेरे को सब चीज स्मरण हो जाता है मेरे को कुछ भी स्मरण नहीं होता है मैं सब समझ जाता हूँ मैं कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ ये मन बुद्धि का कार्य हुआ तो ये जो मेरे को समझ में आ जाता है मैं बुद्धि मानता है ये सबसे ये सबके सबके परिचिन्न हो जाता है क्योंकि अगर मैं एक बुद्धि हो जाऊंगी हो जाऊंगा फिर सभी बुद्धि में हो जाऊंगा यही परिचिन्न के चलते उनको आनंद का बोध नहीं ये परिचिन्न को हटाना वेदांत का कार्य है तो परिचिन्न को कैसे हटा देंगे बुद्धि तो परिचिन्न ही होगा तो हम बुद्धि से हट जाएंगे बुद्धि परिचिन्न होगी वो कभी अपरिचिन्न नहीं हो जाएगी क्योंकि हम बुद्धि से भिन्न है तो फिर हम क्यों परिचिन्न होंगे तो कहते ना एक व्यक्ति है वो तो एक व्यक्ति के साथ सटा हुआ है और एक व्यक्ति है उसका सभी के साथ प्रेम भाव है कभी कहते हैं ये व्यक्ति देखिए परिचिन्न हो गया और ये व्यक्ति अपरिचिन्न है जो परिचिन्न होगा वो तो दुखी होगा और जो अपरिचिन्न होगा जिसका सभी के साथ प्रेम भाव है उसको तो हमेशा प्रेम भाव ही रहेगा क्योंकि सभी के साथ प्रेम भाव है तो, तो हर हर समय में सभी लोग दुखी हो जाएंगे क्या कोई एक दो तो मतलब आनंद में रहेंगे और इसका सभी के साथ अच्छा भाव है तो, तो हमेशा अच्छा ही रहेगा तो जितना परिचिन हो जाएंगे उतना ये आनंद अंश का अनुभव नहीं होगा जितना अपरिचिन्न होंगे व्यापक हो जाएंगे उतना आनंद का अनुभव होगा तो ये अपरिचिन्न का कैसा होंगे किसी के साथ मनोबुद्धि के साथ भी स्वतः होने से नहीं होगा उसे हटना पड़ेगा इसलिए तो पहले तो कहते हैं साधु को शरीर के बाहर जितने पदार्थ तो किसी के साथ सटेगा केवल शरीर मनोबुद्धि इतने से ही साधु का हटने का बाकी रहा है तो घर छोड़ दिया मतलब बाकी सब तो छूट ही गया फिर इतने ही रह गया शरीर में बुद्धि रह गया इतने को छोड़वाना ये हो गया साधु होने का बात कार्य बाकी सब तो पहले से छूट गया तो जितना जितना ये सब छूट जाएगा शरीर में बुद्धि भी उतना उतना आनंद का अनुभव होगा तद ब्रह्म इति अवधारय जिसका कार्य ये प्रपंच है वही ब्रह्म है ऐसा अवधारय अवधारय निश्चय निश्चय निश्चय करिए लोक का मध्यम टीका में यथा नंती प्रतिक्रिया था ना आगे तैतीस लिखा है वहां काट दीजिए वो तैतीस वहां नहीं है आगे टीका में ब्रह्मविद आपनोति परम यदि सूचित अभी तैतरीय उपनिषद का विचार चल रहा है वहां है कि प्रथम मंत्र है ब्रह्मानंद वर्गी अर्थात द्वितीय वर्ग का प्रथम मंत्र है ब्रह्मविद आत्मविधि परम ब्रह्म ज्ञानी परम को प्राप्त कर लेता है श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेता है इति सूचित से ब्रह्मण कह जाए कि ब्रह्मविद आत्मोधि परम तो अभी सभी को लगेगा कि ब्रह्म क्या है हम भी जाने क्योंकि ब्रह्म को जो जान लेगा वो श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेगा तो ये ब्रह्म क्या है लक्षण बहुत बुभुत्सया ब्रह्म का लक्षण जानना है क्योंकि जिस पदार्थ को तुम जानेंगे उसका लक्षण जानना पड़ेगा जैसे कह दिया गौण जिसको प्राप्त हो जाएंगे उसका जीवन का बहुत दुख चला जाएगा तो वो पहले कहेगा अच्छा मेरे को गौ प्राप्त करना है फिर पहले क्या पूछेगा ये गौ क्या चीज होता है उसका लक्षण कहना पड़ेगा तो अभी कहते हैं ब्राह्मण लक्षण बुभुत श्रया बुभुत श्रया बुद्धुम इच्छया संप्रत्यय हुआ बुद्ध धातु से सत्यम ज्ञानम अनंतम इति सत्य ज्ञानात्मक अनंत आनंत्यम सर्व प्रकार परिच्छेदाभाव प्रतिज्ञा यहाँ तक है ब्रह्म का लक्षण पूछने से कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ये उसका लक्षण हो गया सत्य ज्ञानात्मक आनंत्यम सत्य और ज्ञान हुआ हम जानते हैं हम है और हम जानते हैं किंतु हम ही अनंत है ये हमको बोध नहीं होता है हमको हमेशा लगता है हमको परिचिन्न है हमको परिचिन्न है तो सत्य ज्ञानात्मक आनंत्यम आनंद का अर्थ कहते हैं सर्व प्रकार परिच्छेदा भाव परिच्छेद तीन प्रकार के होता है देश काल वस्तु ये तीन प्रकार की परिच्छेद होता है देश परिच्छेद तो समुद्र यहाँ है नहीं है समुद्र भी तो बहुत स्थान पर है समुद्र बहुत स्थान पर है फिर भी यहाँ है क्या तो समुद्र इस देश में परिच्छिन्न हो गया यहाँ नहीं है और अभी ये हिमालय ये किसी काल में नहीं रहेगा ऐसे होगा नहीं होगा गंगा जी के लिए तो बोलते हैं दो सौ साल उसके बाद गंगा जी सुखी हो जाएगी तो अर्थात बरसात के समय में चलेगी अन्य समय में नहीं तो ये सब देखिए काल में परिचिन्न हो जाएंगे एक काल में रहेगा दूसरे काल में नहीं रहेगा तो ये हो गया काल परिचिन्न और वस्तु परिचिन्न कहते सामने में दस गऊ खड़े हैं हमको ज्ञान होता है यम गौ हो यम गौ हो यम गौ हो एकादश एक अश्व है वहां भी यम बहु ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा तो अभी ये जो अश्व पदार्थ तो आ गया ये गौ पदार्थ का परिच्छेद करवा दिया तो कहते हैं जो गो पदार्थ अश्व पदार्थ न परिचिन्न वस्तुकृत वस्तु के द्वारा परिच्छेद हो गया इसी प्रकार की अगर हमको होगा कि ब्रह्म यहाँ है अन्यत्र नहीं है तो ब्रह्म किस प्रकार की परिचिन्न हो जाएगा हाँ, वस्तु परिचिन्न हाँ, ब्रह्म अभी सृष्टि काल में है प्रलय काल में नहीं रहेगा ऐसे ज्ञान होगा नहीं है साधु ऐसा नहीं कहता तो फिर किस प्रकार की परिचन्न नहीं है काल परिचन्न नहीं है अगर ज्ञानियों को ये भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है ऐसा कोई पदार्थ आ जाएगा जो कहना ये तो ब्रह्म नहीं है ऐसा अगर हो जाएगा तो ब्रह्म परिचन्न हो जाएगा क्योंकि ज्ञानी को इस प्रकार नहीं सभी कुछ ब्रह्म ब्रह्म इस प्रकार की ज्ञान है अनंत्य सर्व प्रकार परिच्छेदा रूप रूपम तीन प्रकार की परिच्छेद होते हैं प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा करके द्वैत भेदे सती प्रथम एक पूर्व पक्ष कह रहा है कि द्वैत भेदे सती द्वैत नाना रूप हो जाएंगे तो ये जो आप कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ये कैसे होगा घटापट तो नदी पर्वत से भिन्न है ना आप कैसे कहेंगे कि वही एक ही पदार्थ सब हो गया है सर्व प्रकार परिचय का अभाव प्रतिज्ञा है आप तो प्रतिज्ञा करते हैं किंतु द्वैत हमको तो सब अलग अलग दिखता है तो प्रथम तो अर्थात प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होगा आप कह देंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार कहते हैं ब्रह्म को अनंत कहते हैं किंतु हमको तो सब परिचिन्न दिखता है कैसे होगा की कि अपेक्षाएं आनंद्य सिद्ध्यर्थम द्वैत प्रपंच से आकाशादी लक्षण से प्रकृत ब्रह्म कार्य तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संयुक्त इत्यादि स्थिति विकार से प्रकृति व्यतिरेक अभाव अभिसंधाय उत्तवती आनंद सिद्ध्यर्थम आनंद इसका सिद्धि करने के लिए द्वैत प्रपंच से आकाशादी लक्षण से द्वैत प्रपंच प्रपंच विस्तार जो द्वैत का विस्तार हुआ आकाश आदि लक्षण से बहुब्री है आकाश आदि लक्षण प्रपंच प्रपंच है इसका क्या स्वरूप है आकाश आदि ये सब जो आकाश आदि हो गई ये प्रकृत ब्रह्म कार्य तो प्रकृत अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है प्रकरण अर्थात जिसका विचार हो रहा है तो जिसका विचार हो रहा है वो ब्रह्म उसी का ही कार्य है ये आकाश आदि तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश सम्मुख इत्यादि श्रुति ये श्रुति क्या कहती है विकार से प्रकृति व्यतिरेक अभाव आकाश हो गया विकार आकाश कार्य है हाँ। आकाश हो गया विकार कहाँ से आएगा आकाश ब्रह्म से आत्मा से हाँ। तो इसलिए ये जो आकाश होगा वो ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा क्योंकि जो कार्य होगा वो कारण से भिन्न नहीं होगा विकार से प्रकृति व्यतिरेक अभाव अभिसंधाय विकार जो होते हैं वो प्रकृति से भिन्न होकर के नहीं रहेंगे इसको मन में रख करके सिद्धि कहा तथा च ब्रह्मण आनंद्यम प्रसिद्धम इसलिए ब्रह्म अनंत होगा क्योंकि आकाश अगर ब्रह्म का कार्य हुआ वायु वायु इसी प्रकार सभी ब्रह्म का कार्य होते हैं जो ब्रह्म से सृष्टि होते हैं आगे पंचीकरण हो जाएगा ये जो अपंचीकृत पांच उत्पन्न हुए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये अपंचीकृत उत्पन्न होते हैं आगे इनका पंचीकरण हो जाता है जो उत्पन्न हुए वो सब ब्रह्म का कार्य आगे जो पंचीकृत हो जाएंगे ये भी सब ब्रह्म का कार्य रहेंगे ना कुछ सब नित्य हो जाएंगे तो अभी पंचीकृत होकर के पंचीकृत पृथ्वी जल तेज वायु ये सब बन जाएगा आगे फिर पृथ्वी से ये घटा घटा नदी पर ये सब पर्वत हो गया ये विषय ब्रह्म का कार्य रहेंगे नहीं रहेंगे रहेंगे तो इसलिए ब्रह्म का अभाव कहाँ हो जाएगा कहीं होगा कहते तस्मात ब्रह्म तथा से ब्रह्मण आनंद्यम प्रसिद्धम तैतीस श्लोक यहाँ पूरा कर देते इसलिए ब्रह्म अनंत होगा अभी हमको क्यों नहीं लगता है ये ब्रह्म अनंत है बोलकर देखिए जिससे हम पर्वत को देखते हैं हमारा बुद्धि चलती है ये तो पर्वत ही है अगर उसे हमारा बुद्धि चलेगी ये पर्वत है ना ये जल है ये पृथ्वी है अगर हम पढ़ते हैं इसको जानते हैं कि आकाश वायु ये सब ऐसे हुआ सामने में पर्वत दिखा हम इसको पर्वत कहेंगे ना पृथ्वी कह पाएंगे पृथ्वी है अगर पृथ्वी है तो उसको क्या कह पाएंगे जल कहेंगे जल है तो तेज हो जाएगा तेज है तो वायु हो जाएगा वायु है तो हाँ। आकाश होगा आकाश है तो अभी हमको ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव नहीं होने पर भी एक परोक्ष ज्ञान का अभ्यास हम चला सकते हैं जब तो कर सकते हैं दिन में अगर जब हम गंगा जी जाते हैं पर्वत सामने में दिखता है अगर नियम बांध देंगे ऐसे जैसे हम कहते हैं कि हम जब जाते हैं मंदिर में प्रणाम करने के लिए दिन में हम दस प्रणाम करते हैं सुबह पांच शाम को पांच करते हैं दस बार अगर हमारा अहम में चित्त स्थिर रहा हमको साल में छत्तीस बार हो जाएगा तीन सौ साठ में छत्तीस बार हमारा अहम में संस्कार होगा इतना दृढ़ होगा धीरे धीरे में इतना ही जाएगा अगर हम सामने में जो पदार्थ देखते हैं अगर हम दिन में रूटीन लगा लेंगे जब गंगा जी जाते हैं तो पर्वतों को लग करेंगे गंगा जी को लड़ करेंगे कम से कम दो तो कर पाएंगे जानकी जगह दिख गया तो कहेंगे उसको भी लड़ करेंगे तो ये नियम बनाने के लिए गंगा जी जाने का समय में जो पदार्थ दिखेगा उसको लय करते रहेंगे कितना संस्कार बनेगा साल भर में लय चिंतन का कितना अभ्यास हो जाएगा इसलिए हम लोग जीवन से रूटीन में जोड़ देते हैं रूटीन में जोड़ देते हैं जब हम आरती के लिए खड़े होंगे वहां तक तो हमको कोई कार्य नहीं आरती तो आरती करने वाला करेंगे अगर हमको आंख खुले रख करके आरती दर्शन करना है तो ठीक है अगर हम आंख बंद रख पाएंगे अगर बंद रख पाएंगे तो हम कुछ भी कर ले सकते हैं कुछ स्मरण कर ले सकते हैं ये सब कर सकते हैं हर जगह में रूटीन जोड़ देंगे फिर पहले तो भूल जाएंगे किंतु एक दो महीना हो जाने के बाद रूटीन सब बन जाएगा हर जगह हम देखेंगे आप ये तो शरीर कुछ कार्य कर रहा है आपका मन कुछ ऊंचा कार्य करता है शरीर तो गंगा जी के लिए चल रहा है मन की तो वह चिंतन करता है ये जीवन में इतना द्रुत प्रगति होगा ये अर्थात मन बुद्धि बहुत शीघ्र ही आ जाएंगे किन्तु ध्यान रखकर के कि दुर्घटना न हो जाए शरीर का दुर्घटना नहीं मन की दुर्घटना न हो जाए बहुत ज्यादा इसको दबाव डालेंगे क्योंकि <laughs> तो भी मन भी तो एक बच्चा है ना उसको तो खेलना भी चाहिए ना खेलना क्या है जिसमें संस्कार है उसमें थोड़ा देगा तो, तो बिल्कुल नहीं देंगे तो आगे क्या करेगा मैं तो और पिताजी आपका बात मानूंगा ही नहीं मेरे को तो खेलना है आप सुबह से शाम तक पढ़ते रहो मैं इतना नहीं पढ़ूंगा फिर आपका बात सुने जाएगी वो तो कूद लेगा तो इसी प्रकार की थोड़ा थोड़ा देना होगा उसको थोड़ा थोड़ा देते हो पहले एक घंटा करता था आज पैंतालीस मिनट धीरे धीरे धीरे धीरे करके फिर देखेंगे दस बारह साल में आप कमरे में कुछ नहीं ये धीरे धीरे धीरे धीरे हो जाएगा तो हम मन को हमेशा रूटीन में बांधे रूटीन में बांधे जब बांधेंगे मन को वो मन को कष्ट होगा नहीं होगा बच्चे को आप कहेंगे बैठ करके पढ़ो फिर आधा घंटा पढ़ करके फिर खेलने के लिए जाओ तो थोड़ा थोड़ा राजी होगा इस प्रकार के मन को बांधने का कोई एक, एक कर्मों के साथ बांध नहीं मन ये कर जब करेगा तो इस लोगों में ये करना तो धीरे धीरे बन जाएगा नहीं तो सोचेंगे दिन में कभी पांच बार कर लेंगे ऐसा होता है तो निश्चय करेंगे गंगा जी जाने के समय में गए चिंतन करेंगे ये तो कभी कभी तो गाड़ी मोटर ये सब मिलते हैं ना जो हम ये रास्ते में जाते हैं तो किसी को भी लाइक करो तो मनुष्य दिख गया मेरे लाइक करो कोई भी दिख गया उसको लाइक करो तो ये तो क्या है ये बढ़िया चीज भी है आपका चित्र भी एकाग्र रहेगा और सामने में क्या है उतना भी भान नहीं रहेगा बढ़िया कुछ दिन बाद आनंद भी लगेगा मनुष्य रस भी लेगा उससे तो इस प्रकार की मन को धीरे धीरे प्रभावित विकार से प्रकृति विकार जो है प्रकृति से भिन्न नहीं है इसलिए जगत पूरा विकार है कि ब्रह्म रूप ही है अनंत्यम प्रसिद्धम फिर ये ब्रह्म अनंत है ब्रह्म अनंत है थे शरीर मनबुद्धि ये सब ब्रह्म होने से ये सब अनंत है मैं अनंत में पूरा निश्चय होगा ये तैतीस लोग उच्चारण करेंगे यत्कार्यत्वं यहाँ आनंद्यम प्रसिद्धम इत्यर्थ यहाँ तैतीस पूरा होता है ठीक आज यहाँ तक कल कल भी तो ना ओम